और जब हमने तुमसे फरमाया कि सब लोग तुम्हारे रब के काबू में हैं और हमने न किया वो दिखावा जो तुम्हें दिखाया था मगर लोगों की आजमाइश को और वो पेड़ जिस पर कुरान में लानत है और हम उन्हें डराते हैं तो उन्हें नहीं बढ़ती मगर बड़ी सरकशी